राजे खड़ा होकर देखे देखो नोटन कमांड बैठा तो राजे उसी वक्त लेते हैं लेकिन नोटन कमांड सब तक तीनों गठन में बगल में लगा ले राजे खड़ा हो गया खड़ा होकर देखे तो चौकदा के वास्ते एक हजार फौज का दल घूम रहे राजे के लगा की परी अब वो कोई बात का फिक्र नहीं जो भगवान ने मुझको इतनी मदद कर दी तो इंसान तो मारने वाला मेरे को है नहीं पृथ्वी के ऊपर अब हाँ, तू खड़ी खड़ी तमाशा देखकर तुरंत हिराज है दिल से एक बात तो ही कदर की तौर भी ले ले राजे ने कहा हिर से उन्हें कहे परी अब तू के तमाम फौज खिपा दूं और तेरा भाई पटवन बादशाह के वास्ते मारूं और तू के काना कन तो झाड़ी ले आए इसके लिए मार दूं कौन से को प्रवाह तुम हीर ना ये में ये तोड़ दिया उन्हें कि तू किसी को मत कर मारे जितने बार तेरे पी है और मेरे गोरे बदन में मार दे तो दुनिया झगड़ाई मिट जाएगा क्यों तुम जाए लाल के लिए मारे मेरा भाई को कन्नो बादशाह को इनको रांझे को इतना सोच करके ये बड़ा दिल में क्रोध आया तोड़ के नोट तक की खबान और सपना दी में भवा दिया सत्ता तेरे गट्ठा भवा दिया उन्हें के राम दादी तेरे त्याग भाई भी हथियार लगे और ताना कन्नू खसम मित्र तो प्यारो लगे अरे भोली प्यार लगे ये तो बिना बिना बुरा हुआ तो मैं हुआ मत तू मरे मत तेरी नुको मारे अब तो हम मरे भवा दिया राजे के बदन में गिरम गिर कपड़ा जो कर लिया बड़ा इस में क्रोध किया बात है इतना मैं फौज ने चौक जाकर वैसे घेरा दे दिया हीर कहने के होने के मैं तो मैंने तुझसे हंसी में कहा और तेरे साथी तोड़ के नटिंग कमान नहीं दिया तुमने कहा जदी अब चाहे हंसी में खेचा साथ में अब तो हम मरे फौज ने चौक जाकर वैसे घेरा दे दिया रानी दिल में सोचा उन्हें तुम मारेंगे से छोड़ते तो नहीं पर एक बार तो बंसी और दी बजा ले तो राजे ने मालिक का ध्यान लाकर मनोहर बात भी बजाई तो बातें जितनी बार फौज घोड़ा हाथी साम होता में हां ये पता नहीं जवान को तुम कहां और कहा नहीं कन्नो बादशाह पटमल बादशाह बहुत मजा ये पटमल बादशाह लगा कन्नो बादशाह दोनों की भाई जो तू रांझे पे वहाँ डांट करेगा तो शायद पहले मैं तुझको मारूंगा हां तो क्या चाहिए हीर अच्छी से मतलब हाँ वो रही सारी खड़ी हुई है उसको पकड़ लिया राजे तुझसे कुछ भी नहीं खेगा तो राजे तो अपने क्रोध में खड़ा गया क्या ख्याल करा बातें हिर को पकड़ के नहीं और अपने कन्नो बासो सुकत कभी दौड़े में बैठा दी दौड़े में बैठा दी चलती हो जाए कान्हे दिल में क्रोध की क्रोध क्या या मालिक जो पैर के दिल में बसन भर दिया वो बसन भराई पड़ेगा तीन तीन खातर हीर अठे अठे जरूरी जाएगी पर इस मती कुमती भगवान ने दी जो इसकी बातन को मैं रात में भागे रवाना हो गया जोर भाग गया तो बात ये लेकिन हीर सर्दी को लेके कन्नो बासा और पटमल बासा लेके चलता हो जाए तो घूमते हुए जाए उदय हो जाए दिन जमशरे का गोल ने खोल के गाय और चलता चलता उसी ढाके में सतलुज घाट पर पहुंच जाए उसका तो फोन जाना भैया और इधर भाई पहुंच जाए राजे पे क्रोध में खड़ा गया ग्वाल खड़े होने पे किससे खड़ा होने क्या मर के तक से खड़ा अरे क्या हीर गिर जाने दे हम तेरे मक्खन का मेरा हीर क्या करी उसी तेरे से हम तुम मक्खन बिगड़ा जाएंगे और मालिक जगह तक हम तेरे कभी धोखा नहीं देंगे पर एक बार तो बंसी तो बजा ले राजे कहने क्या क्या बंसी बजाऊं अब तो मेरा दिल नहीं गए उन्होंने कहा तुझे मालिक की कसम है बंसी तो जरूर बजानी पड़ेगी प्रभात का टाइम तो राज रेवा बंसी बजाई सुन के बंसी की धुन को और हीर अपने धुन मचाती मचाती जाई सुन के बंसी के लिए हर कान से कहने की भाई बंसी को नेक तुम डोड़े को रोक दो और एक बार बंसी वाले से मुझे तुम और भी मेरा दो तो मैं तुम्हारा कभी एहसान नहीं भूलू आखिर में डोली वाले ने बहुत से जवाब दिया उनने कि हम तो नौकर का नौ बादशाह के हैं ये बात का नौकर नहीं जो चलती डोली ने रोके कन्नो तो बादशाह कहने रहे क्या बात तो है भाई ये बंसी बदरी है इसको देख देख के हीर और उधर मचाई रही उनने की नहीं कोई जरूर नहीं रोकने की तुम चलो और मैं जा रहा हूँ बंसी ने बिल्कुल बंद करवाऊंगा और उसको बिल्कुल खत्म करके नहीं आऊंगा तो डोरी लेकिन वो तो चलते हो जाए फौज पलटे कन्नू बादशाह छठे घोड़ी पर आने के पास में पहुंच जाए मनमोहन पास लगी ग्वार बाल खड़े हो छोटे बेटे तक ये राजे कह लगा राजे कहने कन्नू बादशाह कहने लगा राजे से उनने की भाई उनका उसका तेने बंसी में तो पता नहीं जारी जारी वो तेने तो बंसी तो बंद कर और मैं तेने बिल्कुल खत्म करूंगा राजा ने बहुत सा कहा कन्नो बसे ने की भाई हरा भी बांस की बांसी मेरा क्या रब ने फरमाई बन भी खये खुदा का इसमें ताया किसी का नहीं तो बने खुदा का ये बंसी कभी बन नहीं हुई तो बातें कन्नो बादशाह के राजे की बात ही झड़ा भरता रहा को छोटे बड़े घर सब ने कन्नो बासा सवरदा दाके वास्ते घेरा देखे नहीं और अब लखन की देवा लगा जितू घोड़ी जावे उतू झलट जितू जाती को झलट तो बात है घोड़ी का कन्नो बासा का मोड़ माथा फोड़ दी कन्नो बासा किसी बच बचा के अपने लेके घोड़ी के रवाना हो जाए रवाना हो जाए तो बात एक राजे भक्त में खड़ा हो हुआ ग्वाल बाल कहने लगे राजे से उन्हें क्या हमने कन्नो बासा इतनी मार लगाई तो एक भी मार नहीं लगाई खड़ा करता तो मैं सही तरह राजे कहने लगा उन्हें कि भाई मेरे मालिक का हुक्म नहीं वार करने का क्या बात है कन्नू बादशाह के पास पीट कूट के कन्नू बादशाह जाओ यार दोस्त भाई कन्नू बादशाह क्या बात है उनने की बात क्या बताऊं यार सब गाल छोटे बड़े सब मेरे पास ने मेरी रानी झेड़ा होगा उसने मेरे चौकट दागवा घेरा दे लिया और उसने मैं लाठी पटंगी मारी उनने की यार तुमको तो बादशाह ते एक कदम तो खत्म नहीं किए कन्नू बादशाह कहलेगा उन्हें भाई मेरे तो सासों के पास मुकुट है वो जानो जो ये एक हाथ से मेरा से मर जाता तो तमाम जनसा दुनिया ये खेती अरे भाई झड़ो तो रांझे के पटमल बासे कन्नू बादशाह को हमारे गाल ने मारियो ताप जिंदगी बोल खड़ा हो जाएंगे कोई बात नहीं यार तो आचार ऐसे होती रहती है तो बात हीर को लेके नहीं पटमल बादशाह अपने महल में आ जाए कन्नो बादशाह के बाद को अपने खाना वाना खुला के नहीं और हीर के लिए भुंदवा भांग का लाडू जो खुआ दिया पटमल बादशाह के असली में ऐसा ना हो कभी महल में से गिर के नहीं हीर खत्म हो जा राजे के भोग में नहीं नशा में करके नहीं कन्नो बादशाह सुप्रत कर दो तो बात ये नशे में गड़गाट करके नहीं जालंदा सिंदूक में बंद करके नहीं और कन्नो बादशाह सुप्रत हीर सजा दी कर दी बोलने की भाई अब हमें से क्या निका फड़ा क्या फिर अपना कुआर रख डायरेक्ट हमारे जन समझ काड़ा मिल जाएगा तो बाद जबर से कन्नु बादशाह सुप्रत कर दी कन्नु बादशाह ने हाथी के हाने पे सिंदूक बांधी हाथी पे बैठा कन्नु बादशाह लेके पांच जवान को धोता नंगा से चलता हो जाए इधर कुरान जी महिता के निरानी सोचा अब तू चोर तो गया पर तू काय को भी जैसे तू आया है लाठी थमाइए ऐसे ही के मगले तू समझा चल चोर बन के चले उसका तो जाना हो या फौज का तो और आगे महीने के जंग चाले में आ जाए राज अपनी माता से कहने लगा हीर के माता से अम्मा अब तो तेरी लाठी कमल ले समझ ले जिस खाते में बचा था वो पढ़ाई होगी तो बात हीर के अम्मा ने बहुत सा समझाया उनने कि नहीं हम तुम तुम्हें मेरे वतन के लिए जानना तो बात रानी वैसे रवाना हो गया तो चले में शेर से बाहर चौराया चौराहे पर राजे खड़ा हो गया राजीव खड़ा खड़ा चार रास्ता दिखने लग गया एक मन तो करे मैं जमशाले में चलूँ एक मन मैंने कहे खेड़े में जाऊँ दूसरा कर रहा मेरा वतन को जाऊँ चौथा ये कर रहा अगर मैं भगवान की माने की दिखा के लिए जाऊँ तब कभी हीर बेले वहाँ मिलेगी इधर को कन्नो बादशाह लेके हीर को जाए रात खेड़े तो रास्ते में कौन मिल जाए वो हीर का चाचा से जमाल की लड़की बोली वो अपने सासे से पीहर को आ रही तो यह बातें गाने के बहुत छमसा बहुत बातें हैं वो हीर के कहला गया बोली निकल तुम कहाँ गए उन्हें खेड़े कहाँ जाए हो जंगसले से छः साल बाद से लड़की हीर को जाके लाए बोली कहने की उन्हें के वो तुम्हें ताऊ लड़की मुझसे बड़ी तो तुम्हें जीजा लगता है कहाँ है उन्होंने सिंधु बन वाली तो जीजा का नाम सुनते ही कन्नो बादशाह राजी हो जाए उसी बकत सिंधु का ताला खोल दिया हिट को तो हौस दी आ गया वो हिट देखे नहीं तब बोली रोड़ा खड़ा गया उन्होंने बोली तू कहाँ चाहिए आई उन्होंने की बहना मैं सास से तेरी शादी सुन कह रही हूँ इतना तरफ ब्याह बड़ताल हो अरे के बहना ब्याह तो कहाँ से किसी पड़ोस हुई हो रहा है अब तू कहाँ जाएगी उनने की जाऊँ कहाँ अब तो मैं जंग चले कोई जंग हो जंग चले को नहीं कहा उनने बहना दो तो समझता तू मेरे रानी से खेले तो मैं तेरा ताबीज रानी अभी कले सान नहीं भूलूंगी जब हीर ने कहा बुरी से के बुरी कह दिए कले सब अमेरिका यहाँ से तू जावे रानी रास्ते मिल जावे तू जाके समझा तो मैं करने समय मरेगा और तुम्हें समझ समझ कर ले मैं खेड़े में जाऊं और कन्वा ने बीरपाती से बहुत से जवाब दिया अब कन्नू बादशाह मेरी मालिक दरगाह तक भाइये और राज के में कभी भी धोखा नहीं दूंगा जो कन्नू बादशाह जब ने कहा फड़ागा तो मेरे उस्ताद में हीरा कंचू से मदन राज मालिक दरगाह में मिलूं ये जवाब उसने दिया इतना जवाब सुन के कन्नू बादशाह ने फट ताला बंद कर दिया सुनने की देखो अभी तो उसी यार गुण गाड़ी चलता हो जाए बूढ़ी चलती हो जाए रास्ते में राजे खड़ा हो जा बोली कहने बोली तू कहाँ से किसे खड़ा है लेकिन मेरी मर्जी तरह से खड़ा हूँ तू खा रहा कि मैं मालिक दरगाह ले जाऊंगा और मेरे को पक्का विश्वास है ये कभी कभी मेरी मालिक दरगाह में मिलेगी भगवान तो बातें भूल गए बहुत सखल है तू मेरे संग चल मैं तुम्हें खड़ा बेला पाऊंगा मैं तेरे खाता करूंगी मेरी बहन की संग तेरे संग में शादी कर दूंगी राज कहेगा निकली अब तो मैं मालिक दरगाह के लिए जाऊंगा उन्हें तो ऐसा काम कहीं मत जाए मेरे रस्ते में बूढ़ी मिली हीर साथ साथ मिली हो कहा मिली उन्हें रस्ते मिली मिली क्या कहेगी तुझसे उन्हें ये कह दी मेरा मरे का सफर कर ले मत खेड़ में जाऊँ कनवा ने वीर बढ़ाऊँ मैं कदम निका फड़ाऊँ कन्नो बादशाह धर्म का भाई इतना जवाब सुन के राजा तन बदन खुशी हो गया और निक बोली हर हट जाएगा जो हीर का यही दम खम बोल रहे तो हीर मैंने कभी धोखा नहीं देगी आत्मा खेल के नहीं जाऊँ तो बात ये राजे पे चलता हो जाए ये चलता होने के बाद में एक रात का टैमा सुनना जो धोड़ा चौदह तेरह गुप्त चौदह प्रगट वहाँ पहुँच जाए इसने सोची आज की रात तेरी यहाँ कर जाएगी उसी नहा रखा जाएगा राजे और आगे भर जाए राजे की भगवान ने मती फेरी वो नित्य को नुगरा है तेरे गुरु नहीं और गुरु बिना गुरु बिना गति न होती देख तू तो आज गुरु कर चेला हो जा तो राजे ने वहां जाके कहया आ हाँ, देश भी कसा भगवा देखिन निमन का तेरा गुरु कहता ही चेला भी कले हो बाबा राले भेक पे चेला होने की बंदे का दिल पे आई वो चेला कर ले बातें बहुत से जवाब साल हुए तो चेला का बहुत से जवाब हुए चेला ने बातें सुनना जो पेश कर दिया है अब तो हो के तू करे तो ये करेगा ये हमारा गुरु तो जा बहुत सी सेवा में खड़ा रहा राजे पहला खोल के देखे तो राजे का तप नहीं सुना जल्दी उसने बहुत सा समझा उन्हें के लिए बेटा तेरा रूप जो भी लाग नहीं जाने कोई पी है और या जाना उतारे रायपुर राजा बादशाह मैं तुमसे तो नहीं करूँ और जो की धार बड़ी पहली बहुत बात है जोग धान की बहुत इसमें कथन बात है जो बताइए भीख मांग में जाएगा गाली देगा पीटेगा कूटेगा जेल काटेगा दुनिया ये कहेगा किसका चला रहे मैं सुनना जो चलो मेरा भेक के बता लगा मैं तो कभी चला नहीं करूँगा राजा कहेगा नहीं कि बाबा मैं कभी तेरा भेक नहीं बता बता नहीं करूँगा और भराऊंगा घटाऊंगा नहीं बहुत सा समझा नहीं माना तो सुरनाथ जोगी ने सोचा ये नहीं मानेगा सुरनाथ जोगी लेके लगकर राजे में भगा रात का मौसम राजे ने पीठ फेरी घर के तीन ताल मारी चौदह चला गुप्त चौदह प्रगट सात छमान कर दिया अधेर को साफ हो गया धुआं समेत मढ़ी में अपने बल सिलसिला लगा बैठ गया रानी सुचानी बज के बल चलो हुए नहीं खतो तो रात तो कट जाती और तेरी ना गया उसी खा जाएंगे तो रानी वहां बनसी फिर बजाई तो सुनना जो इससे का महम होता ना जाए ताली बजावे कभी भानी तोड़े नाचे कूदे तान लगावे मत हो रानी ने बंसी बंद करी सुना सुनना जोगी ने खोटा के पत्ती और रांझे की शीश नवा दिया उन्हीं के लिए बेटा तू तो जान चलो होता हो पर वो तो चलो कर ले और ये बंसी को बजा मुकू सिखा दे अरे बाबा मैं तो नुगरा हूँ मेरे गुरु नहीं तुम मुझे चेलो कर ले अरे ना बाबा तुम मुझे चेलो कर ले जो भी कहने लगा अरे बाबा मुझे तो चेलो कर ले तो मैं हेरे पकड़ूँ हेरे से बजा पकड़ूँ हाँ सीख जाओ उड़ने की बहुत बढ़िया उड़ने की तो बेटा हां तो सुनना जोगी ने राजे मरे में ले लिया समाधि कान चिड़े समाधि में बैठा दिया अरे दो जो बेटा जो कान खंडत होगा तो जीत होगी मट्टी लेनी पड़ेगी देखो जो अगर हमें एक आ जाए जो मूर्ति खंडत हो जाती है उसका मुंह देखा बिना धर्म नहीं उन्हें के बाबा तो तुम काट दे खड़े यहां पर मुझे चलो कर ले तो बातें समाधि में बैठा दिया सात पत्ती आंखों के बांधी सुनना जोगी ने लेके खड़ग ऐसा काने जो चीरा तो एक कान चीरे के बाद में दूध धारे जो आई दूध धार देखे बातें सुना जो घबरा गया तो लेके अपना दंड कमडल में और पाताल लोग के लिए चले जाए होने गया पी और और यहाँ होता है बहुत से जो ने कान फाड़ दिया मैं दूध धार नहीं आई पाताल लोग पहुंच जाए राजे ले बहुत देर हो जाए रानी ने देखा उन्हें कि बाबा का पता नहीं हटा के पट्टी बहुत सी आवाज मारी रानी भगवान से कहना कही सत्तर पेन राजे बातें पाताल लोग सुनना जो पास नहीं पहुँचा दिया सुनने के बाबा तू तो चला होता हो कोई लोग में चल मैं तो लुक रहा हूँ मैं तो चेड़ा हूँगा उन्हें कही बाबा तुमको हाथ जोड़ू यहाँ पी जाना और जाए पहुँचा रे मैं तो बस की नहीं राजे ने बहुत सा पीछा किया सुनना जो कि के लिए बेटा लत तो वह कान चीर दूँ सुनने के नहीं बाबा एक कान चीर मंजिल में एक कान चिरा मेरा पाताल लोग में दुनिया क्या खेल रांझे कहाँ चिरा हुआ नहीं मेरा तो कान तू है चीर उन्हें कि बेटा मैं तो डर के मार तो यहाँ आ रहे हो पर इतनी शक्ति नहीं जो मैं ऊपर के लिए चला जाऊँ तो राजे ने अपने साथ पट्टी और सुनना जो भी क्या खेल गए जो बांधी रानी ने भगवान से करी तो धूणा समेत सोमनाथ जोगी अपने उसी मणि में जाके बैठा दिया पेड़ में सोमनाथ जोगी देखो वही मणि में बैठा है उनने की अब तो कभी नहीं छोड़े ये तो कोई तो से भगत है पीए हो जाता तो हूँ सारे उनने की बाबा ने अब तो खेगो नहीं से में तो चलो कर लो तो बात के रांझे के कांचे के तरफ फेंक दिया और सारा बस्तर खोल के रांझे ने छड़ा दिया और अपने लगा लंगोट का कर अंदर भाबड़ा बहुत हो गया बात सारी चीज रांझे ने जो अपने बांट ली हो लगा झोल के पीछे सब रांझे चलने को तैयार हो गया तो नाथ जोगी बोला निकले बेटा तू तो ये कहा कि मैं ये लूंगा बंसी बजाऊंगा राजे कह लगा होने के लिए बाबा वाह मैंने कोई कान चिरा लिया है भगवा बना लिया तो मैं तेरे फिखर बैठा उसे लिए बिना घूमने के लिए लिया तुझे नमस्कार करेगी और तेरा भेंट के लिए मैं घटाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा बता नहीं लगाऊंगा तो आखिर में राजे मासू चल दिया तो बातें बहुत से गाने बहुत से छंद आते हैं राजे बातें अटखेड़ में पहुंच जाए चौड़ाना कुआ पास पीपल नीचे धोड़ा लगा दिया भैया शहर का भेदभाव इतने यहाँ आएगा घोल लगा बैठ जाए आस्ती जल भरने के लिए आई तो जितने बार पाझारी राजा की देख के श्याम को देख के सिक्का गुम होता जाए कोई तो खेवने के लिए कोई राजा का कोई बादशाह का कोई खेत विपता में जोगे हुए क्या बात है कोई खेत राजा भक्त जोगे हुए ऐसे हो गए ये सब दिमाग भी ऐसी अपनी चर्चा जो कर रही ये कहने लगे उन्हें के लिए भैया भगवान घर में आ नहीं फिर तीसरे अरे के दारी क्या बात बताऊं जैसा अपना कन्नो बादशाह के हीर आइए कभी हीर का और या बाबा को जोड़ो होता हीर का जोड़ा कबिया बाबा के संग में होता पर भगवान ने घर में आ नहीं आज पर जोड़ा बिछाट के और कन्नों बासा के लगा दिया और ने क्या शानदार हीरे ये कह रहे कि उन्हें की दारी तू कैसी बात कर रही है भैया ये उन्हें कि हाँ हरी के दारी आज मैं नहीं चलता सुनकाई उन्हें की भैया तू का सुनकाई हरी के दारी जब तू जंगशाला में सुझाए होने कन्नू बासा ना तो निगाह फड़िए ना उसका फेरा पड़े वो तो वैसे भाई भाई खैरिए होने की बात आ रही कभी अस्त्री भी मरसू भाई क्यों नहीं भी आज में सकता सुन के आई वो तो भाई भाई करिए राजरी एक बात सारा तत्व जो दे लिया राजे बड़ा खुशी हुआ होने या मालिक अभी तो हीर का वही दमखम बोल रहे और इसमें चाहे तो हीर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी आखिर में सारी पढ़ाई में होता मैं आ जाए राजे ने बंसी बजाई सारी पढ़ाई में होता मैं आ जाए तो अपने जल भर के बस दे दे के ढोक अपने चलती हो जाए रांझे के लिए कोई दस मक्खन का बेला लावे कोई खीर बना के लावे कोई मल दो बना के लावा बातें तो बस छोड़ दो पूछवा लग गयो रांझे की प्रभात का टाइम हो जाए रांझे दिल में सोचा उन्हें जो तेरी ताब जिंदगानी पर बैठे बैठे धोने पर गुजर जाए तो हीर का कभी दसम न होगा क्यों वो राजा बादशाह काय का परघट बाबा को पर जोगी की और मनिहार की राजा बादशाह रोडी मनाई नहीं कोई रोकने वाले नहीं ना तू तो भीख मांगने चल सही में तेरा दसम हो जाएंगे हीर का तो राधे बाते काकड़ा कंद भाबड़ा भूतुके लगा भूत लगा लंगोट झोलती पी चिमटा लेके वहाँ बाते डोले तो भौसी जी गए या बट मार तो पर कन्नू बादशाह पुराना महल पहुंच जाए जिसमें कन्नू बादशाह की बहन ही की माता ए कन्नू बादशाह की माता लिया करती तो कन्नू बादशाह की बहन इन्हें से जो रांझे का भाई के ब्याई और ये कन्नू रांझा लगा उसका देवर की भाव लगी पर वो तो बहुत दिन को आया ना माँ यानी पिछड़ शादी हुई ना बालक को इसने ये पता नहीं है रांझे को वहाँ वाको सैती को देवर है पिछड़ जाए ये रानी जरूर पता अत्री भाव सहती है कन्नो बादशाह की बहन ती भाव लगती है जरूर पता जाके वहां अलग जगह के जागी में रखने वाजे मेरा और या सुखी रो खेड़ों में मर्द भाई आवाज भी सुनी थी सेठी ने उसन क्या महल में हीरा मोती का थाल भर के बाबा को लेके आई बाबा तू आगे भड़की तेरी भीख ले जा रानी ने आगे कदम बढ़ाई चौगट बाग को महल में देखे पर ही का कहीं पता नहीं लगे रानी सोचा थोड़ी जो इतने भीख ले तो फिर तो डटवा काएगा वो ही का कोई दर्शन नहीं रानी कहने की बेटा ये तेरा कंकर खतर में नहीं लूँ मेरे तो बदन में भूख लगी हुई है क्यों अभी तो मैं नया तो चिरा हुआ हूँ कानों की नहीं मिलती थी खेत तो मैं चिरा होकर धोने पाया हूँ यहाँ और धोने पे देखा तेरे दर्जे अल जाया दूध हो तो क्या दे तो बात ये उस टाइम पे भगवान का ऐसा हुआ अगर ना तो कोई भोजन पाया और ना कोई दूध हाँ महल में सहती बोली की बाबा जे तू भोजन होता तो मैं तू जरूर खाती और वो दूध भी नहीं ऐसा काम कर रे बाबा ये हीरा मोती का थाड़े कम क्यों नटे तू तू ले जा फिर जो बुझ आएगा बीत जाएंगे तो फिर मैं तुझको भगे नहीं घाल दूँगी उनने की नहीं ये तो मेरा कोई बिल्कुल काम का नहीं कोई बात नहीं बेटा मैं तो रीता भी चला जाऊँगा ढोल सका इतने सोचे रे पर भात को टाइम भूख नहीं यहाँ से तो चली गयो तो जाना हमारा क्या महल में शराब दी जाए अपनी मम्मी की बाबा थोड़ी देर बैठ जा खड़ा रहे मैं भी अम्मा से पूछा जो कुछ खेगी वो जवाब दूंगी उन्हीं के बाबा कुछ मांगेगा भी तो रानी वो चीज़ मांगी जो इनके महल में नहीं अगर ना तो महल में निकले ना ही भी घाले और नहीं तो यहाँ से जावे तो हीर का कभी कभी तो महल में दर्शन हो जाएगा बात रानी कितनी ये होगी और दर्शन करके समझ हीर का हीर के सेठ अपने अम्मा के पास में गई उनने के अम्मा इससे बाबा आया है और अपना द्वार रीता जाएगा कोई चीज़ नहीं देवे एक चीना की भीख जरूर उसने मांगी ये कहा कि मेरा गुरु का हुक्म चीना का है चीना घाल दे तो मैं तो ले जाऊँ और नहीं मैं तो हुक्म नहीं कंकर फसल लेने माता अपने पास में चीना है नहीं मैं बाबा के लिए भी किसी का उनने के लिए बेटा ऐसा काम कर तुम हेरा कहीं कहीं पा जाता तो उसने हेडन कई बातें उसके लिए चीना भी थोड़ा सा पा गया राजे चौक डाकवा से खड़ा देखा पर राजे कहीं हीर नजर नहीं आई सज्जे पे खड़ी हो जाए उन्हें कि बाबा तू आगे भर के तेरी सीटी सूटी कर दे तो मैं यहीं से घाल दूँगी क्यों मैं नीचे कुआंगी वहाँ से वहाँ जाऊँगी मुझे बहुत सी देर लग जाएगी तो राजे ने अपनी चीटी सूटी कर दी और चौबक दाँत के पास देखा वह धार भाग के सेठी ने अपना चीना जो छोड़ा और चीटी मार के टिका और राजे ने पलटे जो लगा दी तो चीना क्या खात दाण दाण महल में जो फैल सेठी कहने को निकले बाबा जो तो चीड़ो हो और हमारे है भी नहीं जो तेरे साल चीड़ो फैला दियो तू जल्दी सो के ले जा और मेरा भाई आ जा भूख खूब लड़ेगो और तो पीटा और कुटो तेरे कैद करो तो बातें कर लो बादशाह का नाम सुनते वाली के बदले में आग लग जाए और यार भाई दंड कम डाले जो फैला दिया के कन्नू से जाऊं कन्नू का बाप से अब मैं जाने का हर करना अब तो क्या महेंद्र राजा बसेगा जब ये चीनों हरे हो जागो लेके खुद पर ही निलाइट करूंगा और यहाँ काटूंगा समेटूंगा बात सीधी रास्ते जब मैं धोना पे जाऊँगा मुझे बारे बस हो जाए से तेरे दिल में सोची जुलूंगी बातें बाबा ने बहुत लंबा रुकी पर है तो जो गया धमका के जल्दी रवाना कर दे तो सेती लेके पास और राजे के लिए धमकाने के लिए आई फिर का केस खोल दिया और जमीन में बातें बहुत सी इसने गाल गुप्त रांझे के लिए जो करा रांझे कह लगा उन्हें कि देखे सेती जैसे जोगी मांगण आवे ऐसा जोगी मैं नहीं कच्चा भी कलवा हो सेती छोड़ू तेरा महल में कूख बांधू तेरी क्या बदन के माई भैरा भी मचान बैठा दू तेरी कूख पे कोई बच्चा पड़ेगा को क्या छोड़े नहीं जो तेरे बच्चा पेट पड़े वही को भैरा मचान चार जाए और सियाणा भोपाल पे इलाज करावे तो नहीं तो सियाणा भोपाल सुने और नहीं हटे तो इलाज ना हुए तो रानी भगवान से कहना कही सत्तर पी छोटा छोटा बच्चा बन के सेती के चारों मेरे को बदन लौट लौट खावा मैं कहता तो खूनी खूने गोटा फोड़ लिया रोती पुकारते अपने माता के पास में गई माता की धूप धमाई दी उन्होंने कहा माता तो जल्दी चल और बाबा की ढोकरा मार दे और मेरे कच्चा करवा दो छोड़ दिया लौट लौट के मेरे बदन के लिए खाए सेठी की माता कहने की उन्हें की बेटा मुकुट तेरे कहीं कच्चा कलवा ना दे गरीब की माता तो ना देगी देखी चार मेरे खा रहे आखिर में बातें सेठी की माता ने जाके रानी के सामने धोख यारे बाबा जो कुछ बड़ा तू माफ कर मार पर तू दुर्बे से भगवान के समान है और तू जल्दी सोच के चुनाकू ले जा तो राजे चौकरदार दाकू वास्ते देखे पर कभी भैया तो बातें रानी ने बहुत सा अपराध हुआ बहुत सा कोई तो મજા हो जाए पर कोई तो દર્શન नहीं हुआ इसकी माता ने कन्नू बादशाह के बहुत से हाथ जोड़े अरे बाबा तू मेरा खाना मार मेरा बुढ़ापा में ख्याल कर तू खेते सो के मैं चीपे में कर दूँ हाँ नहीं दिल में ख्याल करने की जो उसका नहीं खाना मानेगा तो माने घर भी दोषी होगा ये भगवान के समान बुढ़ा आदमी उन्हें की तो बेटा खे तो ना मान तो सो के मेरी चीपी में कर दे चला जाऊँ हाँ उन्हें बाबा रानी दिन से तो जो हीर होती महल में बहुत सिद्धि होगी <coughs> जब जरूर दस होता इसमें नहीं अब तू तो यहाँ से रवाना हो जा वहाँ से रवाना हो जा रहा जी उसी धोने को ऊपर आ जाए इधर को ये कन्नो बादशाह के यार दोस्त बाग में घूमने निकल जाए ये कन्नो बादशाह कहने लगे कि भाई तुम कर लेते हो धोना लेते तुम तुम समझते क्या खेती उन्हें की भाई अजी कहते अजी कहते उन्हें भाई तो तुझसे उन्हें हमसे भाई भाई खेली अरे भाई अब मारा सेठ खेड़े में सेठ बड़ा सकड़ देगा ये कन्नो बादशाह से यार दोस्त कहने लगे उन्हें कि भाई ऐसा काम अपने आज खेड़ में से भी जात दो तो तुझसे भाई खड़ा छोड़ देगी और तेरा जोड़ा मिल जाएगा तो कन्नो बादशाह यही काम किया आखिर में देखो महल में इसकी भाव का हीर का और सेती का भोसेज वासवान और भी है तो बात यही सर जी महल में बैठी हुई ये कन्नो बादशाह से कहने लगा उन्हें कि भाई साहब काम करो सेती फिर मेरा भरा और मेरा भरने के बाद में गठजोड़ जात देंगे तो सात भाई खड़ा छोड़ देगी तो कन्नो बादशाह ने मेरा भरोसा कर दिया बाद में यही सब रवि को सेठी को बैठे डोले में और फौज पलटन से क्रांत लगी हुई अपने बाग में पहुंच जाते हैं पहुंच जाते जारी के बाद में कंप लगा दिया और सेठी पे जाके नहीं जड़ा भड़ा के नहीं फूटी से मड़ी पड़ी हुई ये कन्नू बासना स्तुति जो करी कि जोड़ा भी मिलाते हो सेठी पीर बाबा बाली हिल से गुण भूमि में तेरा क्या हार गंगा मैं तेरा कभी गुणे जो नहीं बोलूंगा और ते दुणी मेहमा कर दूंगा देखे ढोक कन्नो बादशाह भाग लिया जाए अपने बहन सेठ से कह उन्हें की मेहनत हिल को भेजे भी ढोक लगा दी हिल सर रवि जाके सेठी पीर का मढ़े में पहुंच जाए और हाथ जो के स्तुति करे कि जोड़ा भी मेरे है सदी की बाबर आने पीर से बुलबुल में क्या क्या हर गनाई जो भी तीन खतरे बचने बताओ मैं बचन क्या दिया भाई आज मेरा तीन तीन दिन पूरा हो गया और तुम रानी से मिला दे तो भगवान से करना करी खबर भी लगी शाही की दरगाह में वासु से हुक्म क्या दिया फरमाई टूटा बास से नीचे जमे में आ गया माया रूप सब इसने क्या दिया बनाई सब बन गई और हीर के बाएं पांव के गूठे में जो लड़ा दिया हीर के लिए मेड़ आ जाए दस आ जाए कन्नो बादशाह को दिखाई दे के फट कोई झाड़ झिकट में अपने कैर खाता में छमान कर दिया वो कन्नू बादशाह देख के सतले और भीतर आया जगत ही के मोड़े पे झागे जो आ रही ये कन्नू बादशाह ने बोसर उधन किया होने के लिए मैं तो जाना यही सदी पी बाबा मेरा जोड़ा मिल जाएगा और ये सदी पी ने खुद ने आपका जोड़ा मिला लिया भाई कोई मेरा शहर में ऐसा हो जो मैं ही को जीवा दे दो जी नाम मांगो ये नाम में दूंगा ये कने बैठने वाले कहने उन्हें के महत देखो इसको महल में ले बंद मकान में हवा मत लगने दो और बहुत से बैठ गाड़ू है साथ में मैं ही जीवाई देंगे तो मैं बातें बाग में सोख पड़ गया राजा बादशाह ने कहा अपने डोले में लाश को रखे नहीं और नीम का दबना देखे नहीं और महल में लिया मैं बंद मकान में बंद कर दी इसने मुक्ता बैद गाड़ू बुला पर कोई नहीं मरी हिर नहीं जीवाई एक बूढ़ा बैद गाड़ू बड़ा होशियारा वो कहने लगा उनकी महाज जब भी मरी होती खाई होती सबकी छह महीने को मरी को मैं देता जीवाई छह महीने को मरी जीवाई तो सब खाई होती सब भी लड़ा है इसके हिस्से का ये बचने की मेरे बस की ना है इसका तो कोई सब हिस्से का लड़ा हुआ अब कर लो बस मेरे हिस्से कैसा हुआ करते सब कैसा हुआ करता है कोई नहीं रहेगी भाई ये कन्नो बासा के बहन सेती कहने के लिए भाई एक तो मेरे निगाह और भी है कौन देख चौड़ाना कुआ पास पीपल उसके नीचे बाबा का धोना है उसके पास मैंने बहुत से कल अपने भीख मांग लेके आया हाँ। उसके पास में जादू मंत्र देखे ये कन्नो बासा के लगा होने के लिए बहन तो जल्दी जा और जो भी मांगे वही बाबा को देनी कहे जल्दी लेके आ उन्होंने कहे भाई मेरे कहने से कभी नहीं गया मेरे उसके तो बहुत से झगड़ा हुआ कल अरे के नहीं बहना अपने घर जा तू जा और जल्दी बना के ला तो आखिर मैं सेती अपने वहाँ गई और प्राजी सेती आती देखे नहीं और कैरी पर लगा धोने पर बैठ गया खेत रे भोसिया भिनी करियो तू चार महीने जोगी मारे होनी ऐसे होगी अरे वो बेटी छोड़ के जाइए खेले आगे गई कनु से भैंस कैसे भाई तू चल के दीजिए झाड़ा तूने मिल जाए कि मैं कहा तू मत ना लगावे टाड़ा हे बाबा तू चल बहुत से सुत करे राजा के लोगों ने कहा दादी मैं जानता हूं तेरे भैया जो तू कल मुकबास लेके मारने के लिए आई क्यों मेरे कान की सुर्खी नहीं मिटी अभी तक क्यों मुझे जाने से बुखार चढ़ रहा है मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं और मैं चलना बस के नहीं अरे बाबा तुमको मोटर मंगा दूँ कार मंगा दूँ ऊँट मंगा दूँ घोड़े मंगा दूँ राजे के लगे उन्हें कि हम जो हमारा क्या काम घोड़ी ऊँट चढ़ने का मैं तो बस के नहीं चलना अरे बाबा जो तुम सवाई चाहिए वही मंगा दो राजे सब नाबेट कर दी राजे कहने वाले एक चीज तुम्हें छड़ना याद है कौन सी अख मैंने गौल में बहुत सी गाय चढ़ाई तो हम पद्दी पे छड़ोगरा तो मेरे पति छड़ना तो याद है उनने के बाबा अब हाल मेरे भाई कन्नू बासा को भेजू और तू पद्दी पे ले जाएगा राजे कहने वाले वही कहना नामत ले कन्नू बासा को मैं कन्नू छोड़ने कब कन्नू का बाप छड़ू ना तू घोड़ी बन जा क्या पता चल सकता तो राजे की लगी भाव जो छड़ने में कोई भगवान के दोषी नहीं आखिर मैं बहुत सा कह रहा हूँ सोचने के लिए बाबा मेरे कोमल बदन में बासा लड़की मैंने कभी उधर रखा नहीं मेरा क्या काम घोड़ी बनने का उनने के नाते गज पर तो बन गया आखिर में अपने गज कान उस घोड़ी जो बन गई राजे ने अपनी झोली तुम्हारा तुमड़ी लेके नहीं और राजे फुदक के छड़ा तो सती घोड़ी गड़ गई कागड़ा कंद भाबड़ा भूत होगी राजे से कहले निकले बाबा मेरा कोमल बदन और मुझ पर कभी वजन नहीं मिले राजे ने घड़ा मिस भले होने के मेरा कान दुखने के तन में पट लगा दी बहुत से उधर मचाया सेती बोली निकले बाबा तो तेरे आपके छड़ में और आपके तो मैं तुम ले जाऊंगी राज में फिरोज भोरी बंडा सेती रानी ने भगवान से कहना की बड़ी भावजे माँ के समान है और भगवान को दोषी होगा तो रानी भगवान से कहना करी तो फूल बराबर भगवान ने वजन कर दिया आपने लेके अखर बक्कर झोली की चिमटा रानी सेती को पछड़ गया तो नेक बदस ना लेती हाँ ने बाबा अब तो मैं तो ले लूंगी लेके चलती हो जा तो गैराम फिरोज इसने पटक लगाई है आखिर में घीस घास के ठेठ महल में ले जाती है ले जाने के बाद में कन्नू बादशाह ने पता नहीं कि रानी बाबा हाने तो सिने ढोके जो देनी ओने के बाबा जे भी जीवा देगा बाली हिर को गुड़ भूलू मैं तेरा के हार गनाई और जुड़ी में ना कर दूं मैं तेरा छेड़े के माई अच्छा रोट भेट तेरा मैं करूं ओने के भाई देख हमको कुछ नहीं जब भगवान ना पे झाड़ा देंगे जी आ हाँ, तो बहुत सी बात है हमारे को काट कोड़ा नहीं हां ओने के बाबा बहुत अच्छी बात तो रानी ने बंद मकान में पड़ी हुई रांझे जाके नहीं वहाँ कोई नहीं और रानी हिर के सिवाय महल में जाके इसने भगवान से कहना करके नहीं और लेके ढा इसने झाड़ा जो नहीं के ढाई लेके झाड़ा दिया और रांझे भगवान कहना उसी बाल टूट के उसी असर पे जो बनाया वही सब में झा काटे वही भरने लगा तमाम ढेर हीर का जो ठीक दिया तो हीर बातें वैसी वैसी भगवान ने जो कर दी हीर आँख खोल के देखे तो राजे काकड़ा कंदर भाबड़ा भूत हो है हाथ जोड़ के बहुत से स्तुति करी हीर ने मुन्ने के मंत्र तीन दिन खतर बचन भरा वो बचन मैंने निभा दिया और तू कान चला लिया जोग हो गया राजपाट का मतलब का नहीं लिया उनने के मैं तो लुग रहा मैं तो गुरु कहना यहाँ पर तो ऐसा काम बत अब तू चला हो तो चल मैंने जो मेरा वचन निभा दिया हिल को निभा दिया राजे ने के कन्नो बसन बहुत धो दी तू कुछ मांगना उस मांगने में मैं कुछ नहीं मांगू मैं तो तो धोना पे चल जाऊंगा तो मांगा मैं तेरी सेवा सेवा करूंगा तो रानी धोना चल जाता है सेठ की सेवा में लगा दे नहीं तो तू सेवा कर बाबा बड़ा करामाती सेवा करने जाती वो नान सेठ की लड़ाई चली जाती नान और रानी पिछाड़ लिया अब उसका गाँव कहाँ है सेठ से कहे कि भाव जो नंदन ने कहा उन्हें कि मुँह ऐसा लगे तो देव राजा हुए तेरे क्या पता उन्हें कि हमारे गाँव को हम जानू कि ना सेठ की मीठी बन के बात तो पूछ नान से उन्होंने कहा देवरी तो उसका उनकी तरह खसम है चल मेरा भाई सवाल में जाके खूंगी और तेरे गिर बात कैसे बनायो सेठ नार पान प्रजा ने की कोई तक तो माने एक तक तो मान जाऊं जो तेरा पेमा नाई के लिए और हजारों को भेजे और वहां से पता पड़े राजा है कि नहीं बस इतना पता पड़े इतने तो मैं नहीं कहूंगी कि तुम्हारा अंडा का भल हीर सेठ के अपना महल चली जाती नान ने वजह के नान से कहा नहीं से कहा उन्हें नहीं पता आज अपना कार आ गया किसे उन्हें की बात मैंने हासिल में कही वो सांची रानी में सिर पड़ गई आज जो तो है को जावे और वहां रानी से पता पड़े राजा वहां है कि नहीं इतना तोड़ दिया अरे के रान तू जल्दी मेरा घोड़ा कर दे और तू सेठ की गंजाई खत ले उसका हाथ को लाड़प हो जाती सेठ ने ये खत लिखा अगर छलवा बचले मालूम हो उतना अच्छा चाचा राजा है कन्नू बादशाह कैद में कर रखा जेल काट रहा है जो आपका बस के मई उसकी बन छुटा नहीं है तो मैं भाई के संग लड़ूंगा मैं उसकी बन छुटाऊंगा देवर की तो उसने सोचा आज जो राजा होगा तो बोल आएगा और जो उसके लिए जोश होगा तो जरूर यहाँ तेरे पास जल्दी से खबर हो जाएगी उन्हीं के अंदर लिख के खत दे दिया उन्हें जा ले जा तो नाइट छड़ के घोड़े पे हजारे में पहुंच जाता है पहुंचने के बाद वहां छन्ना बादशाह का अनिका बादशाह दरबार भरा गया इसने खत बाचा देख के खत के लिए पछाड़ खा गए उन्हें देखो सुना चला गया है हजारे में सरे में उसे आज खते जो आया है और ये भी सुना कन्नो बादशाह हिर को जाने के लिए चला हिर की बहुत गाड़ी मोहब्बत है ऐसा ना कभी राजे कन्नो बादशाह हिर को लेकर उसके पीछे पीछे आ जाओ तो रांझे कन्नो बादशाह कन्नो बादशाह राजा खेत में खड़े हुए हिर के आगे पीछे नहीं भाई देखो माना मंजूर है पर भाई की बंद जरूर छुटानी पड़ेगी देखो सेठ के अपना कुतम को चाहिए तो उसने ऐसा खाते जो लिखा है तो बात ये पांच जवान को लेकर नहीं कुतम भी लड़ने को तैयार चल दिया इधर को पेमन आए हुए महल में ठहर गया अपना सास को वहाँ ठहर चल गया इसकी माता के लिए खबर पड़ी कि इससे फौज लड़ने के लिए जा रही राजे की बहन से कहने की बांधी और सुनने की बांधियो ऐसा ना हो कि वहां तो झगड़ा हो जाए रिश्तेदारी का मामला है नहीं मैं जाके समझा दूंगी लड़े नहीं पीछा ये भी चल जाए तो वहाँ तो कन्नो बादशाह की पटना हद में और राजे का कुटुम कबीला फौज काम हो जाती वो जा ये राजे कुटुम कबीला ने जाके भाई ऐसा काम वो खत दे दो कन्नो बादशाह और लड़ने का सामना करे और हजार की लूट अच्छा ही लूट करेंगे इतना जवाब सुनकर लिख के परवाना सेवा ने और कन्नू बादशाह ने दे दिया अख मामा कन्नू के लिए मालूम हो या तो लड़ने का आमना सामना करे और हम चंग सड़े की हजारे की आए हैं आठे लूटे जो करेंगे तो पटमल कन्नू बादशाह कौन सी बात सोची आज देखो तू स्टैंड पे तू ही को लेके आया हाँ सत नदी से उसमें खत में राजू तू वही छोड़ा तने तो राजे अपना भक्कुतन कबीला में जाके हजारे में और वहां से लड़ने को फौज पलटन लेके हीर को लेने के वास्ते तेरे पास में यहाँ लड़ने को आया है और हीर के लिए कभी भी नहीं छोड़े लेके जाएंगे नहीं सा काम को मन मंदिर पर लौट के हीर के लिए कभी मत दो तो बात ये इतना जरासु के पटमल कन्नो बादशाह उसी भगत पांच जान को लेके धौसा नंगड़ा से और लड़ने को तैयार जो हो गया तो चलता हो जाए तो इधर को तो फौज कन्नो बादशाह की खड़ी हो जाए इधर को राजे कुटम कबीला की फौज खड़ी हो जाए राजे खड़ा खड़ा देखे तो दोनों के मुकाबला हो रहे राजे दिल में ख्याल क्यों या भगवान क्यों हजारा तो जीतेगा मेरा कुटम कबीला जीतेगा और कन्नू बादशाह की हार होगी तो जो जीत गया मेरा हजरत ताब जिंदगानी भर को ये मेरे भाई बंद कुटम कबीला ये कहेगा अब भाई राजे ने सत्य पे काम आती कान से लड़िया जो हो गया पर हीर को लेकर आयो फिर भी हमने भाई ने मदद करी तो हीर को हम दिवा के ले लाया धूल की बेकरामात नहीं राजे ने भगवान से स्तुति करनी या भगवान मेरा कुटम कबीला की तो हार हो जाए और कन्नो बादशाह जीत हो जाए भाई का ईशान नहीं उड़ाना चाहिए मेरे ऊपर कुटम कबीला की तो हार हो जाए कन्नो बादशाह जीत हो जाए तो का नाम मालिक का राजे अपने धोने पे खड़ा गया और वहाँ कन्नू बादशाह का और राझे की हजारे का राझे का बाप अमी का बादशाह भाई बंधन का इनका मुकाबला जो हुआ तो होने का हिसाब ये है ये कन्नू भगवान का करा तो इनका तेरा तो फड़ा नहीं अमी का बादशाह का तो और कन्नू बादशाह जीत हुई भगवान घर से तो बातें हजारा का सारा कुटम कबीला कन्नू बादशाह ने खत्म कर दी एक छना भतीजा जो छोड़ा छनमा भतीजा कन्नू बादशाह कहने भाई देखो अंत को हजारे का नाम नाम तो मत करो इसलिए छोड़ दो तो उसको तमाम खत्म करके कन्नू बादशाह धो सनंगा से अपना महल की नहीं आ जाए दरबार के नहीं वो कन्नू सलमा भतीजा अपने भटबेड़ा माता लहसन में जो रोहल मचा रहा इधर को सेफ्टी नहीं चलने को तैयार हुई महल में लेकिन मेरी सास और नरदाई बाग में हुआ मैं मिलने के लिए जा रही हूँ हीर साहब यदि कहने को नहीं मेहनत तेरी तो पाप की और मेरे धर्म की जब तेरी सास तो है नहीं पर मेरी सास जन्म की सास और नर्द है मैं जरूर चल के मिलूंगी उनने की भला चल तो सेती हीर साहब यदि अपने बाग में रांझी की माता के पास में आजाद ढोक देनी फिर मैं सारा हकीकत जो राजे की माता के लिए सुना दिया उनने की माता सात जन्म का जोड़ा लिखा हुआ है और कोई जरा बचन भरा उन बचन निभाने, के लिए मैं कर लो बासा गए आयु मेरा तीन दिन पूरा हो लिया है और आज है जो चढ़ाना कुआ पास पर नहीं धोना लगा हुआ है अब हम तेरे संग में ही चलेंगे ये कि राजे की माता कहने लगी हल्का से होने की हल्का जल्दी जाओ रण में ऐसा ना हो कभी वहाँ झगड़ा हो जाए हमको इस बात से ताल्लुक नहीं है या तो ही मर्जी आ तो कन्नू बादशाह कह रहे या राजे कह रहे पर झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में वो हल करा जाके देखे देखे तो थनवा भतीजा लूसन मचरा है और तमाम लाश लाश पड़ी हुई रो तापो का था थनवा बात है उसको माता के पास में वहाँ आ जाए छन हकीकत सुनाई उनने की माता ना ले है पांच देवा सिवा मेरे सिवा कोई नहीं छोड़ा अमन कन्न मामा ने और सब खत्म कर दिया हीर के राजे की माता ने धरके ठोकर हीर के मारी उन्हीं के हराम जादी तेने हमारा सारा कुतम कबीला खिपा दिया तुम तो निचल करे बिकाई सारा कुतम कबीला खिपा दिया तुमने छनवा के इतने भीड़ खड़ी खड़ी तो उधर मचाने लगी छनवा का नाम सुनते उन्हें ये छनवा जिसको राजा रोजना याद करा करा वो छनवा है ये छनवा से कहले उन्हें कि बेटा ऐसा काम कर तू मेरे संग चल और तेरा चाचा राजे धोने के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ चलो तो हीर सर जदि छनवा भतीजा धोने पर पहुँच जाए और वहाँ रोधन है जो मचाया हीर ने बहुत सी कई पर राजे आँख ही ना खोले बहुत सी छनवा भतीजा उधर मचाया राजा आँख खोल के देखे तो दोनों धर्म चले छनवा के ऊपर हाथ धरा की बेटा किस तरह की चाचा क्या बात बताऊँ ये मामा कन्नो बस सारा कुटम का बिना खिपा दिया मेरी सेवा कोई नहीं छोड़ा हो नहीं बेटा इस बात ने बड़े फिक्र किया तो झूठ बोलता हूँ नहीं नहीं चाचा बिल्कुल खेपा दिया तो हीर ने बहुत सारे ताना मारे तू जरा भेक कर ले मुद्रा उतार दे कुंडल पहन ले तेरी बंसु मुको दे और मैं लड़ूँ कन्नो बादशाह से आखिर में राजा कहलेगा उन्हें कि पर ऐसा काम को तेरे धन में कर जाए और करने धरना सूर्य और मेरा मेरा मालिक बेड़ा पार लगाएगा तो हीर तो उसी बाग में राजे की माता के पास ना जाए वो छलवा भतिया को साथ में लेकर राजे और वहाँ लासन पे पहुंचे होने के चाचा देख क्या हाल करा गया तमाम का सफाई कर दिया होने के बेटा कोई बात का मत के फिक्र मत के भगवान बेटा के पार लगाएगा राजे ने अपने झोड़ी में से काट के नहीं बंसी वहां फूक लगाई और वहां कन्नू बासे ने खबर अरे खेतों बंसी बजी कहा बस सपना देख घाट के ऊपर जब हीर साहब जल्दी पकड़ी गई और खे बंसी बजिए आज अरे जो दुश्मन जो तो जिंदाई है क्या और ये अपने कुटुंब का मिला का नाश हो लिया अरे बैसा क्यों लाल लाल इसका भी सपाया कहो चल के तो पट कन्नू बस उल्टा अपने फौज पलटू लेकिन और वहां लड़ने को फिर आया देखे तो रांझे काकड़ा कंदर भाबड़ा बुथुरे कन्नू बादशाह देख के कहने का उनने किए तो वही जोगी इसने मरी हीर जी भाई जो मुझको पता होता अगर रांझे जोगी बन गया तो उसको महल में ही खत्म कर देता इसका संग में कौन वो काले खान अर्जन धारी के साथ में काले खान है अर्जन धारी काले झगड़ा हो गया ये कहने जाओ उन्हें कि भाई तू ऐसा काम कर लूँ अब भी हाथ जोड़ के नहीं और उसके चरण में पड़ जा जो इसमें गुणे नहीं जो हम जानते हैं कि वो सारे सास हदीस की सबको खिपा के नहीं और मजुटा के नहीं ले गया भाई इससे कभी नहीं पेश खाएगी अभी तुम्हारा पान में पड़ जा राजे कहने गया कन्नो बादशाह कहने गया उन्हें के सारे यही बात तो पटमल बादशाह ने कही मुझसे और नहीं मेरा वहीं खत्म कर देता नहीं अब इसको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा राजे किसे कहना बोलने कि भाई ऐसा काम कर मैं तो वार कर लिया अब तू क्या वारे जो कहला जिंदा में तो छोड़ना है राजे ने कहा भाई तू ही वार कर ले भाई ये तो मैं धर्म में तो सब खिपा दिया तू वार कर ले तो राजे ने भगवान से कहना कही तो अपने दसवें माल कार करी धड़के फटकारा कन्नो बादशाह की फौज में दिया तो तमाम जवान का शीश कट कट के जमीन में गिर गया एक लाख कन्नो बादशाह खड़ा रह गया कन्नो बादशाह देखे सबका सफाया हो गया कन्नू बादशाह पच्छाड़ खार गिर गया रांझे का चंद में जो गिर गया इधर राझे ने बंसी का फटकरा दिया और तमाम रांझे के कुतम कबला की सारी फौज खड़ी की कर दी सब जवान ने जब रांझे का तन में दिनी क्या ढोक लगाई भाई बन लिपट रहे रांझे क्या क्या घर के माए सब ने अपना प्यार प्रेम जो किया <coughs> प्यार प्रेम हो गया इधर को ये कन्नू बादशाह ने बहुत चाहते जो जोड़ा आखिर में रांझे के दरे गाया जाए इसने उसकी फौज सरजी बने जो कर दी ये कन्नू बादशाह कहलेगा उन्हें कि भाई जो गुम मुख पता होता तो हिर को कभी लेके मैं नहीं आता अब ऐसा काम कर हीर मेरी बहन धर्म की और सेती मेरी पाप की अब खाना वाना खाओ और मैं हीर को तुम्हारे संग में अभी सेती को दोनों को भेज दूंगा तो आप दोनों का मिलाप हो जाए बाग में आके ठहर जाते हैं दोनों की फौज पड़ी हुई कन्नू बादशाह की रांझे को तम कभी लागी और बड़ी खुश और रांझे की माता और बहन अपने महल में सेती ले जाती है उसको नहीं अब खाने वाने का इंतजाम हो रहा सभा भरी हुई ये कन्नू बादशाह कहे उन्हें कि भाई मेरा एक पंच फैसला कर दो किसे भाई मैं आपसे कहना हूँ मुख अस्थित दुनिया पैदा नहीं है राज के लिए और भी आपाश्री करा देंगे राजा कहेगा उन्हें भाई मेरा तो जोड़ा भगवान की बैकुंठ प्रसाद जन्म का लिखा हुआ है कन्नो बादशाह कहेगा उन्हें कि नहीं कुत्तियाँ लिखो मेरा लिखेगी सब जो लिखता है तो उन्हें कि नहीं भाई मेरा लिखा हुआ है उन्हें कि तुम्हें ऐसा कहूँ तीन कोठे में बंद कर दो जो तेरा जोड़ा लिखा होगा तो तेरे पास में हीर आ जाएगी उन पंच कहे भाई हाँ ये बात ठीक है तो पंच ने तो कुर्सी ले ली एक कोठ में राजा बंद कर दिया एक में कन्नो बादशाह बंद कर दिया एक में हीर बंद कर दी पंचन ने पूछ ले ली हीर ने भगवान से करना करी तो फूल पड़ा के भगवान ने हीर के राजे के पास ही खड़ी जो कर दी ये खोल के देखे पंच तो रांझे हीर दोनों खड़े हुए हीर को दिखा ली और कन्नो बासा कर लाई खड़ा हुआ ये पहले होने के बाद बिल्कुल लिखे हुआ कन्नो बासा देख दोनों एक जगह होने के बाद मैं नहीं मानता हूँ क्यों तुम इसको पहले बोलते तो मुझे पीछे बाद में बोलते हो तो तीनों बार इसी तरह से कहा वो कन्नू बादशाह तो इकल्ला पाया और राजे ही दोनों एक जगह पाया ये राजे कन्नू बादशाह कह रहे लेकिन एक अब भी मैं तुम्हारा नहीं मानता हूँ क्यों तुम्हारे पास में कुछ और है इसको खोल के इसके पास में कर देते हो मुख भीतर बंद रखते हो राजे कहने का कहने का नहीं तो किसने माने कि एक नहीं मानता देखो हमारे पास में चादर है और चादर चमन दिया के ऊपर चल के बिछाओ और वहाँ सब चलेगा तो जिसका जो लिखा होगा वो तिर जाएगा और न लिखा होगा तो डूबने लग जाएगा राजे कहने का उन्हें कि बहुत अच्छी बात चलो तो बात ये सारी फौज पलटन चल तो चल चमन दरिया के ऊपर जाकर चमन दरिया के ऊपर चादर बिछाई और वो दोनों के दोनों अपना सत्य भगवान से कड़ा करके चादर बैठ जाए कन्नो बासर जाके नहीं बैठ गया राजे कहने वाले भाई यहाँ सत्य नहीं तुलेगा सब तुलेगा बीच दरिया में तो भगवान ने चादर चलती हो जाए जाके बीच दरिया में और वहाँ चादर रोकी में अब तेरा मेरा सत्य जो तुलेगा तो हीर ने राजे ने अपना सत्य छोड़ दिया और अब कन्नू बासर कोना डूबने लगा जब बोला कन्नू बासर का सार आंझे के सुर तानाई सेती भी भैना मेरी पापी आज हीर में धमकी ली बनाई कोई तो मेरा प्यार जो बच जाए राज एक कोना तीर लग जाओ निकले तो आपको कुणा बाजार बैठ जा फिर कुणा बैठा दूसरे का फिर डूबने जो लग लगा जब बोला कन्नो बादशाह साहब दाता के सुनता नहीं सौगन भी खये मुसी भगवान के जल हाथ में कन्नो बसन ने क्या लिया उठाई तो कन्नो बसन जल हाथ में ले लिया और सुनार की साकी भाई मैं सुनडान मेरा साकी अब मैं कभी धोखा नहीं करूंगा सेती बहना मेरी पाप की हीर में धर्म के लिए बनाई तो वह कन्नो बसा कोना आस खुद बाजो लग गया हेर कहने की राजी से होने के मंत्र अब इसका पाप है जो धुप गया और अब मेरा वचन पूरा होगा जो वचन भरा जो भाई अभी मैं तेरे समय विदा कर दूँ तो वहाँ खूने चलने के बाद में सबका दोनों का फैसला हो जाए इधर को लेके चादर ले राजे उसी घाट को पड़ा जाए अपने लेके चादर लिए अपने बेस्ट डोले में ही तो अपना महल नहीं चली जाए और एक राझे और कुटुम्ब कबीला को लेके कन्नो बादशाह अपना उसी बाग में आ जाए तो खाने पीने का इंतजाम कराया करकरी और कन्नो बादशाह ने और ये विदा करे तो साथ में सेती भी लाई भेज दी जितना धनमाल दिया सेती के लिए उतना धनमाल ही देने लगा राजे कहने लगा उन्हें बजे जितना बात देती है बहन को दे हमारे इतना तो धनमाल से कोई जरूरी जरूरत नहीं है तो बात ये बैठे डोले में रांझे का कुटम कबीला सारा अपने चलता जो हो जाए सेती ही सब जदी कि माँ बहन चलता हो जाते तो दो सौ नंगा चली हुई जा रही हजारे में जगह पहुंच जाए तो हजारे में शहर से बाहर एक बाघ है बाग में जाके रांझे अपन डोड़ा लटवा दिया हिर सजा देगा हाथी से रांझे उतर जाए बाग में जाके धोड़ा जो लगा दिया इसके भाई बंद कुटम कबीला माँ बाप कहने भाई ये क्या बात होने की भाई देखो कान बीच रहा जो भी हो गया अब मैं महल में जाने का हर गंदा कोई भाई को मिलना हो तो यही मिल जाओ भाई मैं कभी भी नहीं चलूंगा जोगी भी होगा तब तपेगा बन में बीच में महल में गुजारा क्या होता नहीं क्यों दुना नुखेगी अरे भाई किसका चेला है वो महल में तपना जो रे भाई है कौन सुनना जो चलो है तो मेरा गुरु के मेरा भेज के बट्टा लगेगा तो बात ये बाग में झोड़ा लगा जाए सारा शहर का अपने जितने भी रहा सारा जो मिलने के लिए आ जाते हैं श्याम का भगत हो गया जो भी हाथ भी जोड़ के जितने भी गाँव गाँव के ढोल चलाने वाले ग्वाल है पाली रांझी से स्तुति करने के लिए हाथ देखो जितना से आप गए हो उतना से बस्ती में ढोल में बहुत सारे रोग है जो आता हमारे बहुत से मवेशी खिप जाते हैं आज बाबा ऐसा काम करो ये हमारे ऊपर कुछ कृपा करो रांझी ने यह वरदान दिया उन्हें कि भाई देखो जब कोई छेड़ा पे कष्ट आवे तो मेरा नाम ले लिया करो तो उसी जगह मैं हाजिर देखूंगा तो राजे ने खेड़ा का नाम लिया ही ना लिया फलाना गांव में खेड़ा ना छोटा भी बड़ा भी ये वरदान दिया तो उस वरदान से राझे के लिए बस्ती में गवाते हैं सारा लोग बाग उठ उठ के श्याम का भगत दे दे के ढोक बातें बहुत सा समझा रांझे कुटम कबीला ने पर नहीं माना आपने चलता हो जाए तो बाग में रात के समय में रांझे ही दोनों के दोनों रह जाते हैं हिल साहब जब कलेगुनी के मंत्र जब प्रभात का टाइम होने के बाद में फिर जो यहाँ भाई बंद कुटुम कबीला सब मिलने के लिए आएंगे ऐसा काम रात का मौसम है कि हिसक भी करो तो मिनता रहो पंजाब में जहाँ हिसकी रब ने क्या खान बनाई भजन भी करे तो मिनता चला चल बन का बीच में बिना भक्ति नर का गुजारा नहीं ये राजे लगा हो निकी परी मुगु तो भगवान प्यारा है मुगु दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो बात ये रात के समय में दोनों राज ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं तो राजे ने वो दुखा बस्ती का कुत्ता बिल्ली एक सुअर तीन वर्ण का इसने जो बना लिए कुत्ता बिल्ली सुअर तीन वर्ण का बड़ा के नहीं दुख और बहन के राजे उनको लेके चल दिया वन का बीच में जाके वन के बीच में और हिंस का बड़ा के और दुख है जो बहन दिया जब हाथ जोड़ के दुख बोलता का साहब बाबा के सुल्तान आई भूखा भी मरेंगे हम का भी बन का बीच में तो मरा तो हमको है पर कलू काल में ना उतरा दुनिया में कोई लेगा नहीं कलो काल में कोई तेरी महिमा नहीं रहेगी क्यों चमत्कार को नमस्कार है जो हम जाते रहेंगे भोजन करने के लिए बस्ती में तो आपका नाम सुनते हम कभी भी बस्ती में मौजूद पाओ नहीं देंगे हीरो साहब यदि कहेंगे उन्हें कि मित्र वाक्य में बस सच्ची बात है क्यों चमत्कार नमस्कार है जो आपका लिए फिर कोई नाम ही नहीं लगा दुनिया में नहीं इनका भी गुजारा कुछ होना चाहिए और तेरा भी कुछ भाव होना चाहिए राज है तीन वचन भरवा लिया दुख से उनने की भाई देखो जो मेरा बस्ती में नाम लेता होगा तो ना सुनते ही और तुम तल्ला के सवर जो तुम ठहरे होते उन्हें बाबा हमको तल्ला के सवर हम कभी नहीं ठहरेंगे तो राजा ये बरदान हुआ ये तो बाकी दुख तो बन में छोड़ दिया रावण ही हीर अपने दोनों बन के बन में सजा भजन करते नहीं एक दिन बन के बीच में विकट जाल में एक हिरण और हिरणी दोनों विषय हो गए जो कर रहे देख के नहीं हेट का दिल पे और पाप की जो ताली ये हिर साहब जब करने कहने लगे उन्हें क्यों मंत्र देखो जंगल के पक्षी हैं ये भी पाप मोहब्बत करते हैं और अपने साथ जन्म से पाक मोहब्बत ही पाक मोहब्बत होती आइए कभी अपन ने पाप मोहब्बत नहीं की राजा कहने लगा उन्हें कि तू परी तू ऐसा काम कर पाप मोहब्बत तो निभ जाती है पाप मोहब्बत टूट जाती नहीं अपनी तो पाक मोहब्बत ही रहेगी उन्हें नहीं मिलता जंगल के पक्षी ये भी करते नहीं आज जरूर भी बाबा पाप मोहब्बत करेंगे राम जी कहने उन्हें तो हर हीर सब्जेक्ट पड़ गई उन्हें खेत तूने तो नहीं माता आदेश हो सर हो भी जाएगा तो बात ये दोनों के दोनों नीचे नड़न में उतर जाए राम जी कहने लगा उन्हें कि परी देख कैसा जा तू यहाँ खड़ी दे और मैं थोड़े से ऊपर चढ़ के देख लूँ कभी कोई ना कोई देखता हो तो उन्होंने मिलता तो हूँ यहाँ कौन देखने वाला उन्हें मैं जरूर जाऊँगा तो राजी ऊपर फूट पर चढ़ जाए वहाँ जाके देखी तो भगवान ने बैकुंठ पे नारद मुनि जो भेजे हुए तो एक हाथ में डंका एक हाथ में नंगा लेकर खड़ा हुआ उन्होंने भाई तू कौन है वह कहने लगे उन्हें कि भाई मैं भगवान की वैकुंठ से और नाग मुनि भेजा हूँ भगवान ने किसे से उनने की देखो सारांझे की सात जन्म से पाक मोहब्बत ही पाक मोहब्बत हो रही है कभी पाप मोहब्बत नहीं करी और आज इस जन्म ना के पाक मोहब्बत तो टूट गई है और पाप मोहब्बत चालू है तो इस नगाड़े में तीन डंका मारूंगा तीन लोगों में खबर हो जाएगी इस तरह से मैं भेजाऊँ इतना जवाब सुन के रांझे कह लगा हाँ, उन्हें की परी ऊपर नहीं आ जा जब भगवान ने खुद नारे में भेज दिए तो अपने धरती आकाश रह गए जब तक पाक मोहब्बती रहेगी हीर कहने की उन्हें की मिलता तो अपनी पाक मोहब्बती रहेगी भगवान ने ही भेज दिया तो तो उसने जब से इतना पाप इन्होंने बिछड़ा और जब से राजे हीर की पाक मोहब्बती पाक मोहब्बत चल रही तो राजे हीर दोनों के दोनों अप बन के बीच में अपने भजन करते हैं भजन करें वहाँ भगवान का नाम लेते हैं अमर है ये कहानी है मतलब हाँ। यहाँ का इसमें आ रहा है रिकॉर्ड करेंगे टीडी का मंत्र है ना भौरी का मंत्र के भौरी री तो भौर भुराड़ी तू राजा बा सके साड़ी उतरे तो उतारू छड़े तो मारो मेरी उतारे नहीं उतरे तो गुरु ना जगे धाई शब्द सच्चा पिंड कच्चा चलो मंत्र इसे बचा सतना आदेश गुरु इतना मंत्र